नबियों के नबी उम्मी लकबी कौन के वाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते कमली में मुझे अपनी छुपा क्यों नहीं लेते कमली में मुझे अपनी छुपा क्यों नहीं लेते मैं आऊँ मदीने मेरी औकात नहीं है मैं आऊँ अगर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली उनकी इनायतें हैं बचा जा रहा हूँ मैं उनकी इनायतें हैं बचा जा रहा हूँ मैं एहसान उनका है कि दबा जा रहा हूँ मैं एहसान उनका है कि दबा जा रहा हूँ मैं लिल्ला संभालिए मुझे मौला संभालिए लिल्ला संभालिए तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली बरसों हुए तैबा में बुलाया नहीं अब तक बरसों हुए तैबा में बुलाया नहीं अब तक अब तक तो किया सब्र मगर सब्र भी कब तक अब तक तो किया सब्र मगर सब्र भी कब तक यार अब है मुकद्दर में अगर रब जियारत या है मुकद्दर में अगर रब जियारत दे मदीने में मुझे अब के रजब तक मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली यूसुफ को हुसन मिस्र का बाजार चाहिए यूसुफ को हुसन मिस्र का बाजार चाहिए मूसा को तूर तूर को अनवार चाहिए मूसा को तूर तूर को अनवार चाहिए हजरत खलील को गुल गुलजार चाहिए हजरत खलील को गुल गुलजार तो कमली वाले का दीदार चाहिए मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा गर तुम न सुनोगे अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा